सत्य से उपाधित्व इत्यस्मान प्रति दृष्टान्त अभावात पूर्व ने कहा जपा कुसुमादि जड़ उपाधित तो है किंतु सत्य उपाधि हो सत्य वस्तु तो उपाधि हो सकती है किंतु वेदांत मत में सब मिथ्या है जड़ उपाधि कैसे होगी तो इसके प्रति दिया सत्य ही उपाधि स्मित हमारे प्रति दृष्टांत नहीं अहंकार आदि चित्तंत्र अनादि अनिर्वाच्य अविद्यामय भूत सूक्ष्म का कार्य अविद्यावच्छेने व चैतन्य निपतन्ति अविद्यावच्छेन चैतन्य के आश्रित होते हैं उपाधि कारण कारण उपाधि विकाराणाम उपहित पक्षपातिताया दर्शनात् उपाधि का जो कार्य है उपहित में दिखता है जैसे जल में चंद्र दिखता है जल है उपाधि जल में जो विकार कार्य कंपन हुआ वो चंद्र में दिखता है प्रतिबिंब आकाश में दिखता है यथा जल चलन आदि नाम उपाधि का कार्य उपहित में दिखता है इसी प्रकार यहाँ अहंकार आदि उपाधि उपाधि का कार्य उपहित चैतन्य में दिखता है सुख दुख आदि तस्मा नासंगतम भाष्यम इसलिए लोक अध्यारोप अपहार्थ बोधोपदेश ऐसा जो कहा गया भाष्य असंगत नहीं है लोक के द्वारा अहंकार आदि के द्वारा आरोपित है उससे आरोप निवृत्ति के लिए बोधात्मन उपदेश कोई असंगत नहीं नन बोधात्मन ना बोध समंजस प्रकाशा प्रकाश और विरोध प्रसिद्ध ये बड़ा आक्षेप है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म तो ज्ञान रूप बोध है उसमें अबोध कैसे रहेगा अज्ञान कहां से आएगा सूर्य में तो अंधकार नहीं है प्रकाशात्मक ब्रह्म है बोधात्मन ना अबोध समंजस अबोध तो अज्ञान है बोध है ज्ञान ज्ञान में अज्ञान प्रकाश में अप्रकाश ये कैसे होगा प्रकाश प्रकाश और विरोध प्रसिद्ध है ज्ञान प्रकाश रूप अज्ञान प्रकाश दोनों का विरोध है तो ब्रह्म में अज्ञान कैसे होगा तो फिर ज्ञान फिर कैसे होगा वह बोधो पिच बोधात्मन न समझस बोधात्मन से ज्ञान रूप ब्रह्म में बोध उत्पन्न होगा क्या बोध होगा बोध रूप स्वयं ब्रह्म उसमें बोध नहीं रहता है ब्रह्म में अज्ञान नहीं ब्रह्म में ज्ञान नहीं होगा बोधोपि बोधात्मन न समझस क्योंकि बोध जिसमें होगा वो विकारी होना चाहिए ज्ञान रूप ब्रह्म तो निर्विकार है उसमें ज्ञान भी नहीं होगा ब्रह्म में अज्ञान नहीं ब्रह्म में ज्ञान नहीं होगा कथम बोध उपदेश सार्थक तो बोधात्मक ब्रह्म में ब्रह्म के लिए बोध उपदेश कैसे सार्थक होगा तो बोध रूप ही ब्रह्म उसको फिर बोध उपदेश तत्वमसि आदि उपदेश ये भी नहीं बनेगा सार्थक नहीं होगा ऐसा शंका हमसे कहते तत्र तत्र च बोधा बोधकर्तृत्वं च नित्य नहीं तत्र च बोधा बोधो समंजसौ तत्र बोधो समंजसौ बोध रूप चैतन्य में बोध अबोध दोनों ही समंजस है दोनों ही आरोपित है ज्ञान रूप ब्रह्म में अबोध अज्ञान अज्ञान कोई वास्तव पारमार्थिक वस्तु नहीं है अज्ञान अध्यस्त है तो बोधात्मक ब्रह्म में ही बोध अबोध दोनों समंजस जड़ में नहीं है टीका में बोधाद अन्यस्य अबोधात्मकत्वेन अबोधाश्रयत्वम न समंजसम बोध से भिन्न जितने सब अबोधात्मक अबोध आत्मा ऐसे अबोध स्वरूप अबोध स्वरूप है बोध है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म है ज्ञान रूप उससे भिन्न सब जड़ है अबोधात्मक जो जड़ है उसमें फिर अबोध रहेगा स्वयं अबोधात्मक में अबोधाश्रित होगा तो न समंजसम बोध से बिना सब अबोधात्मक अज्ञानात्मक तो उसमें अज्ञान आश्रय तो भी संभव नहीं जड़ में अज्ञान का अंधकार में आवरण का क्या कार्य होगा प्रकाश है तो आवरण से उसको ढाकना अंधकार में आवरण का कोई कार्य नहीं है जड़ को ढाकने के लिए अज्ञानी की आवश्यकता नहीं जड़ स्वयं तो जड़ रूप है प्रकाश रूप नहीं उसको ढाकना क्या जरूरत है प्रकाश है तो ढाकना इसलिए अबोधात्मक है बोध से भिन्न जड़ उसमें अबोधा से तो न समंजसम ठीक नहीं है क्यों नहीं होगा आत्मा श्रेयत्व प्रसंगात अज्ञान में अज्ञान आश्रय तो स में स्व आश्रय तो ये इसको कहते आत्माश्रय आत्मा आश्रयस्य स्वयं अपने अपना आश्रय नहीं हो सकता है ये नट नाचने वाले अथवा सर्कस दिखाने वाले जितने भी निपुण हो कभी देखा अपने कांधे पर बैठ जाए स्वयं स्वयं अपने कांधे पर बैठ जाए ये नहीं हो सकता है सुनिपुण उपनटो सस्कंदम आरुडो न सकनोति अत्यंत निपुण हो अपने कांधे में नहीं बैठ सकता है आत्मा तो प्रसंग आता ज्ञान में अज्ञान आश्रित मानेगी अज्ञान अज्ञान का आश्रित स्वयं सब का आश्रय आत्मा से प्रसंग आता और अनिवृत्ति प्रसंग प्रसंगाच यदि अज्ञान आश्रय तो अज्ञान में मानेंगे अज्ञान में अज्ञान रहेगा उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि निवृत्ति किससे होती अज्ञान की ज्ञान से तो जो अबुधात्मक है उसमें ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होगा जड़ है घट तो उसमें ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा तो ज्ञान को नष्ट करेगा क्यों अनिवृत्ति प्रसंग तस्य बोधा संभवात तस्य अबोधात्मक से बोधा संभवात स्वयं अंधकार का आश्रय अंधकार नहीं दिखता है और ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती इसलिए अज्ञान में अज्ञान आश्रय तो अंधकार में अंधकार आश्रय तो ये नहीं होता है और जड़ में बोध नहीं हो सकता तो बोध नहीं होगा तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी इसलिए अज्ञान का आश्रय जड़ नहीं है ज्ञान चेतन ही है चेतन में अज्ञान आश्रित तस्मात् बोधात्मनेव अबोधः समंजसः परिशेषाद विरोधास् विरोधश्च सिद्ध साक्षी वेद्यत्वात् बोधात्मनेव अबोध बोधात्मक जो बोध स्वरूप है ज्ञान रूप ब्रह्म इसमें ही अबोध अज्ञान कहाँ रहेगा ब्रह्म से बिना कोई अतिरिक्त है ही नहीं जितने कल्पित अज्ञान का कार्य अज्ञान आश्रित होता है बोधात्मन चैतन्य से बबोध ब्रह्म में ही अबोध बोधात्मने अबोध समंजस परिशेषात क्योंकि गौर कोई है ही नहीं आश्रय होने के लिए जड़ जितने सब अज्ञान का कार्य जड़े में अज्ञान आश्रय अज्ञान में अज्ञान रहेगा तो आत्मा आत्माश्रय अनिवृत्ति प्रसंग क्योंकि जड़ों को ज्ञान नहीं हो सकता है इसलिए जड़ कोई ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं अज्ञान का आश्रय होगा तो ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय तो बोध रूप ज्ञान रूप ब्रह्म में अज्ञान कैसे रहेगा सूर्य में तो अंधकार नहीं रहता है तो बोध रूप ब्रह्म में अज्ञान कैसे रहेगा विरोध है विरोध सिद्ध विरोध सिद्ध नहीं है विरोध नहीं है क्यों नहीं साक्षी वेद्यत्वाद अज्ञान स्वयं साक्षी वेद्य अहम अज्ञ अज्ञान का भान होता है कुटस्थम जानासि पूछे कुटस्थ को जान तो ना हम जानामि न किंचित अवेदिसम अज्ञान का आश्रय में था सुसुप्त अवस्था में कुछ नहीं किसी का भी ज्ञान नहीं था ज्ञान नहीं था तो अज्ञान था और अभी भी अज्ञान अहम अज्ञ तदुक्तम अर्थम न जानामि इसे घट को देखने के बाद घटम पश्यामि ऐसे अनुभव होता है तार्किक लोग कहते उसको अनुव्यवसाय अयम घट ये ज्ञान हुआ इसको कहते व्यवसाय निश्चय अयम घट ज्ञान के बाद घटम हम जानामि ये द्वितीय ज्ञान कहते के लोग इसको कहते अनुव्यवसाय अनुकात पश्चात पहले घट ज्ञान हुआ उसके पीछे ज्ञान हुआ घटम पश्यामि घटम जानामि घटम पश्यामि जो ज्ञान है वो घट ज्ञान का ज्ञान अयम घट ज्ञान है घट विषय का किंतु घटम पश्यामि घटम घट विषय ज्ञानवान अहम ये घट ज्ञान का ज्ञान इसको अनुव्यवसाय कहते हैं तर्क मत में वेदांती कहते हैं अनुव्यवसाय ज्ञान अलग नहीं जब घट ज्ञान उत्पन्न होता है उस घट ज्ञान को साक्षी प्रकाश कर लेता है इसलिए घट ज्ञान के बाद कभी संशय नहीं होता है ज्ञान घटन पश्यामि नवा विषय में संशय होता है अयम घटो नवा किंतु पश्यामि नवा ऐसा संशय नहीं होता है क्योंकि घट ज्ञान का प्रकाश हो जाता है साक्षी के द्वारा सुख दुख भी साक्षी के द्वारा प्रकाशित होता है सुख होने पर कितने समय के बाद पता चलता है हम सुखी एक घंटा आधा घंटा पाँच मिनट के बाद अज्ञात सुख में प्रमाण नहीं है सुख हो तो ज्ञान हो जाता है जब ज्ञान सुख हो सम ज्ञान है सुख को साक्षी प्रकाश कर लेता है साक्षी चैतन्य अंतकण उपहित अथवा वृत्ति उपहित चैतन्य साक्षी है विशेषण ने उपाधि है तो साक्षी के द्वारा सुख दुख का प्रकाश हो जाता है रज्जु सर्प प्रातिभाषिक दृश्य भी साक्षी के द्वारा प्रकाशित है तो सुख दुख ज्ञान को जैसे साक्षी प्रकाश कर लेता है इस अज्ञान को घटम पश्यसि नाहम पश्यामि नाहम जानामि न जानामि कहेंगे तो अज्ञान का प्रकाश हुआ जानामि कहेंगे तो ज्ञान का ज्ञान न जानामि कहेंगे तो साक्षी ज्ञान को प्रकाश करता है अज्ञान को भी प्रकाश करता है सुख को प्रकाश करता है सुख दुख को भी प्रकाश करता है साक्षी ऐसे ज्ञान होते ही साक्षी उसको प्रकाश कर देगा ज्ञान होने के पहले अज्ञान था तो सब प्रकाश के साक्षी घटम पश्यसि न अहम पश्यामि फिर देखा दिया पश्यसि इदानीम अहम इदानीम पश्यामि पश्यामि कहते ज्ञान घट ज्ञान का ज्ञान और देखा घट को छिपा कर रखा घटम पश्यसि कह क्या कहेंगे ना हम पश्यामि ना पश्यामि मतलब घट ज्ञान नहीं है घट ज्ञान नहीं मतलब अज्ञान है अज्ञान का ज्ञान हुआ अज्ञान भी साक्षी के द्वारा प्रकाशित होता है साक्षी वेद्य है साक्षी सिद्ध है अज्ञान ब्रह्म में अज्ञान है जो प्रत्यक्ष दिखता है अनुपपन्न नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं जो बोध रूप अज्ञान है अज्ञान में बोध रूप स्वयं प्रकाश का अज्ञान के साथ विरोध नहीं है अंधकार को सूर्य प्रकाश नष्ट कर देता है समसत्ता वाले यहाँ अज्ञान है वास्तव नहीं पारमार्थिक बोध रूप ब्रह्म अज्ञान का नाशक नहीं है अज्ञान का आश्रय और अज्ञान का भाषक है प्रकाशक जब भाषक होता है वो नाशक नहीं होता है जब भाषक प्रकाशक होता है वो नाशक नहीं है अज्ञान का भाषक है ब्रह्म अज्ञान का आश्रय है ब्रह्म अज्ञान का नाशक नहीं ब्रह्म तो फिर अज्ञान कैसे नष्ट होगा अज्ञान का नाशक जो ज्ञान है ब्रह्म रूप ज्ञान अज्ञान का नाशक नहीं है स्वयं प्रकाश ब्रह्म अज्ञान का नाशक नहीं है अज्ञान का नाशक ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान अज्ञान का नाशक ब्रह्म रूप जो ज्ञान नित्य ज्ञान वो अज्ञान का नाशक नहीं है यदि अज्ञान का नाशक होता तो अभी तो अज्ञान नहीं रहता किसी को प्रयत्न करना जरूरत नहीं अज्ञान का आश्रय है प्रकाशक है अज्ञान का नाशक नहीं जब वेदांत वाक्य से उत्पन्न होता है ज्ञान वो अज्ञान का नाशक जो ज्ञान उत्पन्न होगा वही ब्रह्म है क्या वेदांत वाक्य से उत्पन्न होगा ज्ञान वो वृत्ति ज्ञाने ब्रह्माकार वृत्ति अहम अस्मि ब्रह्म यह ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है इसे जो निवर्तक नहीं उसके साथ रहने में कोई विरोध नहीं रहता है अज्ञान का आश्रय ब्रह्म ही है साक्षी वेद्य बोधोपि तत्रव समंजसो बोध भी वही होगा चेतन में ही बोध होगा समझ सो घटादिर बुद्धत्व अप्रसिद्धि घटपट आदि जड़ बुद्धा ज्ञाता होता है घट घट अपने को जानता है दूसरे को जानता है पट को जानता है ना और अपने को जानता है हां करते कोई घट अपने को जानता है घट पट को जानेगा या अपने को जानेगा बोलो अपने को जानता है <laughs> हां करो घट पट को तो नहीं जानता अपने को तो जानता है वीरेंद्र क्या बोलते हो घट अपने को जानता है ना या दूसरे को जानेगा घट जड़ ना दूसरे को जानता है ना अपने को जानता है किंतु पट तो जान सकता है हैं मकान बड़े पर्वत पत्थर बड़ा पत्थर पेड़ को जानता है ना नहीं जानता है हैं पेड़ को तो नहीं जानता अपने को तो जानेगा हम्म? जड़ पदार्थ ना अपने को जानता है ना दूसरे को प्रकाश करता है ऐसे बुद्धत्व पत्थर में रहेगा घट में रहेगा जड़ से बुद्धता घटादेर बुद्धता प्रसिद्धे बुद्धृत है ज्ञातृत्व घट आदि में नहीं है ज्ञान क्या है चिद व्याप्तैव बुद्धि परिणामे बोध शब्द वित्पते है परिणामे अंतकरण उपहित से बोधात्मनो बोधवत्वम अर्थ इसको ठीक से समझना अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म रूप ज्ञान है या नहीं नित्य जो ज्ञान ब्रह्म है वह ज्ञान का निवर्तक है या नहीं निवर्तक नहीं अज्ञान का वो क्या है आश्रय और भाषक प्रकाशक अज्ञान को प्रकाश करने वाला अहम अज्ञ आप कहते तो स्वयं साखी के द्वारा प्रकाशित तो होता है अज्ञान तो घचित बोध किसको कहते हैं जिस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति वो ज्ञान क्या चीजें कहते हैं शुद्ध जो ब्रह्म है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वो अज्ञान का निवर्तक है या नाशक है हैं निवर्तक नहीं नाश नहीं करेगा हां निवर्तक नहीं है नाश करने वाले जो ज्ञान किया है बताते हैं चित व्याप्तेव बुद्धि परिणाम चित व्याप्ते सप्तम अंत चिद व्याप्तेव बुद्धि परिणामे बोध शब्द व्युत्पत्ति है बोध शब्द की व्युत्पत्ति बोध उसको कहते हैं बोध शब्द का अर्थ है चेद व्याप्त बुद्धि परिणाम बुद्धि का परिणाम अंतकण बुद्धि का अर्थ अंतकण अंतकण का परिणाम जब घट को देखते हैं अंतकण का परिणाम होता है चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा अंतकण जा करके घट देश में व्याप्त हो जाता है दृष्टांत बहुत बार बताया घड़ा में हो बड़े बर्तन में जल भरा हुआ है एक छिद्र एक दो छिद्र होगा तो पानी उसमें निकल कर गिरता है गिरेगा जहाँ वहाँ कटोरी रखो ग्लास रखो लोटा रखो पानी पानी भर जाता है लोटा रखो तो तदाकार घट रखो तो घटाकार ग्लास कंसर जो बर्तन रखो तदाकार हो जाता है जल जैसे पानी निकल करके घट कटोरी ग्लास में भर जाता है इसी प्रकार अंतकरण चक्षुरादि छिद्र के द्वारा बाहर जा करके के जिस देश में घटक आदि में इंद्र का संबंध होता है वहां अंतकरण तदाकार बन जाता है घट के साथ चक्षु का संयम बंद होगा तो अंतकण क्या आकार बनेगा हैं अंतकण यदि चक्षु जा करके घट के साथ संबंध हो गया अंतकण जा करके घटाकार अंतकण का चक्षु का संबंध पट के साथ हो तो पटाकार जिसके साथ संबंध होता है तदाकार हो जाता है तदाकार उसको कहते वृत्ति अंतकण के परिणाम को क्या कहते हैं वृत्ति अंतकण शुद्ध है चैतन्य का प्रतिबिंब ग्राही सत्वगुण का कार्य स्वच्छ होने से अंतकण में चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास उत्पन्न होता है चेतन व्याप्त होकर के सब अंदर बाहर है कि अंतकण में उसकी अभिव्यक्ति होती जब अंतकण का परिणाम जाएगा उसमें भी चेतन की अभिव्यक्ति होती है चिदाभास के साथ चिदाभास विशिष्ट अंतकण वृत्ति बाहर जाएगी अंतकण जब बाहर परिणाम जाता है उसमें चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास रहता है उसको बोध शब्द से कहते चिद व्याप्तेव बुद्धि परिणामे बोध शब्द उत्पते बोध शब्द की शक्ति है इसमें बुद्धि परिणाम में अंतकण का परिणाम में अंतकण के परिणाम को क्या कहते हैं वृत्ति वृत्ति चिदाभास विशिष्ट हो गया चिदाभास के बिना जब अंतकण का परिणाम वृत्ति उसमें अवश्य चिदाभास रहता है और चिदाभास कहाँ होगा अंतकण में नहीं तो अंतकण का परिणाम में रहता है तो चिद व्याप्ते एवं बुद्धि परिणामे चेतन से व्याप्त चेतन विशिष्ट चिदाभास विशिष्ट चिद व्याप्त का अर्थ चेतन विशिष्ट बुद्धि परिणाम में अंतकण का परिणाम में बोध शब्द की शक्ति है परिणाम किसका हुआ अंतगुण का तो परिणामी कौन होगा परिणाम अस्य अस्तित्व परिणामी जिसका परिणाम हुआ उसको कहेंगे परिणामी परिणाम किसका हुआ तो परिणामी कौन हो गया देखो आगे लिखा परिणाम अंतकरण उपहित से परिणामी हो गया अंतकरण परिणामी कौन है परिणामी यद अंतकरण तेन उपहित से अंतकरण से उपहित अंतकरण उपाधि उपाधि युक्त को उपहित कहते हैं उपाधि से युक्त होगा तो उसको क्या कहेंगे उपहित जैसे जपा कुसुम उपाधि से युक्त स्फटिक को कहते उपहित इसी प्रकार अंतकण उपाधि से युक्त हो गया बोधात्मक ब्रह्म अंतकण उपहित से बोधात्मनो अंतकण उपहित जो बोध बोधात्मक उसमें बोधवत्वम समंजसम शुद्ध ब्रह्म में बोधवत्व नहीं है किंतु अंतकण उपहित में बोधवत्वम अंतकण उपहित में बोधवत्वम बोध हुआ अंतकण का परिणाम सीधाभास विशिष्ट वृत्ति को कहते हैं बोध ज्ञान उसका आश्रय होगा अंतकण वृत्ति का आश्रय अंतकण है या नहीं अंतकण का परिणाम वृत्ति वृत्ति का आश्रय अंतकण है अं- अंतकण का परिणाम क्या हुआ वृत्ति वृत्ति में है चिदाभास चिदाभास विशिष्ट वृत्ति का आश्रय कौन होगा अंतकण केवल अंतकण अंतकण उपहित चेतन उसमें चेतन रहेगा चेतन के बिना अंतकण नहीं अंतकण विशिष्ट इसलिए कहा उपहित अंतकण से उपहित जो बोध अंतकण उपहित चैतन्य में वृत्ति उपहित चैतन्य वृत्ति चिदाभास विशिष्ट वृत्ति चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को कहेंगे ज्ञान रहेगा अंतकण उपहित चैतन्य में वही अंतकण उपहित चैतन्य में बोधात्मनो अंतकण उपहित से बोधात्मन शुद्ध बोध में बोधवत्व नहीं है किंतु अंतकण उपहित बोध में बोधात्मन बोध रूप जो अंतगुण उपहित शुद्ध प्रकाश में नहीं है किंतु जिस प्रकार सूर्य प्रकाशात्मक है नहीं रश्मि सूर्य के है ना किसकी रश्मि है टिप्पणी में दिया प्रकाशात्मनोपि रवे प्रकाशात्मक रश्मि बत्वमिव प्रकाशात्मक सूर्य में जैसे प्रकाश रश्मि वाल वत्व है इसी प्रकार बोधात्मक चेतन में बोधवत्वम किंतु अंतकण उपहित बोधात्मना अंतकण उपाधि से युक्त होने पर उसे बोधवत्वम समंजसम सामंजस्य नहीं समंजसम सामंजस्य से भाव सामंजस्यम सामंजस्य हेतु अंतर्वाह बोधात्मक अंतकण उपहित में बोधवत्वम ज्ञान है उसमें है सामंजस्य होने में दूसरा भी एक हेतु कहते हैं हेतु अंतरम अन्य निमित्तत्वाद अन्य निमित्तत्वाद उदकेव औष्ण्यम अग्नि निमित्तम जल कभी गर्म होता है उसका निमित्त क्या है अग्नि अग्नि निमित्तम अग्नि ही निमित्तम यस्य औष्ण्यस्य तद औष्ण्यम अग्नि निमित्तम अग्नि निमित्त का औष्ण्य कहाँ उपलब्ध होता है उदके जल में औष्ण्यम अग्नि निमित्तम जिस प्रकार जल में अग्नि निमित्त का औष्ण्य हुआ इसी प्रकार अन्य निमित्तक बोधवत्वम अंतकण उपहित बोध में अंतकण वृत्ति उपय है वृत्ति के कारण बोधवत्वाय आया अन्य निमित्तत्वात् उदकेव औष्ण्य अग्नि निमित्तम अग्नि निमित्तक औष्ण्य जल में जैसे है इसी प्रकार बोध में वृत्ति आत्मक बोधाश्रयत्व रहेगा अन्यत्र अंतकरणादि संघाते वादिनाम लौकिकानाम च बोधाबोध प्रसिद्धौ अन्य निमित्तता अर्थ करते हैं अन्यत्र अहंकार आदि संघात में लोक मानते हैं बोधाबोधो प्रसिद्धौ अहम अज्ञ अहम जानामि ज्ञान और अज्ञान दोनों मानते हैं अं, अहंकार आदि संघात में ज्ञान अज्ञान किस में है जड़ में ज्ञान है अज्ञान है ज्ञान तो नहीं अज्ञान भी नहीं अज्ञान होगा तो उसकी निवृत्ति कहाँ प्रकाश जड़ में जड़ आवरण का कोई कार्य नहीं सब कहते अहम जाना में अहम अज्ञानी तो अहम शब्द से शुद्ध चेतन नहीं अहंकार आदि संघात में अहंकार अंतकरण देहादि संघात में बादी लोक लोक में सामान्य शास्त्र को जानने वाले सामान्य लोग कहते हम जाना में ना जाना में हम बोध और अबोध दोनों प्रसिद्ध है बोध अवध जो अहंकार आदि संघात में प्रसिद्ध है वो किसके कारण बोध अवध अहंकार आदि संघात में प्रसिद्ध है तौच आत्मबोधाबोध संबंधात आत्मा के बोध अवबोध के संबंध से अं, संघात में बोध बोधा अग्नि के संबंध से अग्नि निमित्त कौष्ण्य जल में इसी प्रकार आत्मा में बोध है अबोध है उसके संबंध से संघात में भी बोध अबोध का प्रयोग होता है जब कहते मैं जानता हूँ अहम शब्द से ये कार्य शरीर इंद्र संघात को लेते अहंकार को भी लेते पूरा संघात को समुदाय को लेकर कहते अहम जानामि अहम पश्यामि न जानामि लोग जो मानते हैं बोध और अबोध संघात में संघात में बोध नहीं अबोध नहीं बोध अबोध अन्य के कारण संघात में दिखता है चेतना में के संबंध से ही बोधाबोध घट में बोध है या अबोध है चेतन है चिदाभास संबंध से ही बोधाबोध जड़ घट में चिदाभास नहीं वहां बोध अबोध दोनों का प्रयोग नहीं होता है अहंकार आदि संघात में बोध अबोध प्रयोग हुआ उचिदाभास के संबंध चेतन के संबंध से तौच आत्मबोधाबोध संबंधात आत्मा में बोध अबोध के कारण इति आत्मन मुख्यो बोधाबोधो मुख्य बोध अबोध मुख्यतः आत्मा में यत संबंधात अन्यत्र यद उपचरिते तत् तत्र मुख्यम जिसके संबंध से अन्यत्र उसका गौण प्रयोग किया जाता है अग्नि के संबंध से जल में औष्ण्यम उपचर्यते उष्णम जलम दहति जल जला जला देगा गरम जरा गरम तेल है गरम लोहा है वो जला देगा हाथ डुआ उसमें जलेगा यन निमित्त यह आदि किसके संबंध से अग्नि के संबंध से अन्यत्र तैल में लोह में यद उपचर्यते दग्धृतम दाहकत्वम का गौण प्रयोग होता है अयो दहति जला देता है उपचर्यते दाहकत्वम अन्यत्र तैल लवादो अग्नि के संबंध से तत् दग्धृतम तत्र मुख्यम अग्नि में मुख्य है यथा अग्नि संबंधात उदकस्य औष्ण्यम अग्नि के संबंध से जल में औष्ण्यम गौण प्रयोग उपचारेण गौण प्रयोग होता है अग्नि में औष्ण्य जल में औष्ण्य गौण प्रयोग होता है मुख्य कहां अग्नोतन मुख्यम इति अर्थ इसी प्रकार बोध दोनों चेतन में आत्मा में उसके संबंध से अहंकार आदि संघात में प्रयोग होता है और ये जो बोध बोधाबोध चेतन के संबंध से वो भी बोध अबोध बोध है चिदाभास विशिष्ट वृत्ति कहाँ रहेगा अंतकण उपहित चेतन में और अज्ञान अज्ञान का आश्रय बोध ही जो चेतन है उसमें ही अज्ञान है बोध अबोध दोनों आत्मनिमित्तो चेत अन्यत्र बोधावुद तरि निमित्तत्वाद आत्मनो व्यापारवत्व प्रसंग तत्रह अब इसमें आपत्ति हुई अग्नि में के निमित्त जल में दग्धृत्व आ गया लोह में दग्धृत्व आया अग्नि के निमित्त यदि दग्धृत्व आ गया लोह में जल में अग्नि में कोई व्यापार होता है नहीं होता है व्यापार होता है अग्नि प्रज्वलन अग्नि का संबंध हुआ लोह में अग्नि प्रविष्ट हो गया अग्नि में व्यापार होता है आत्मा के कारण यदि बोधाबोध हुआ अन्य में अहंकार आदि संघात में तो आत्मा निमित्त हो गया निमित्तत्वाद आत्मनो व्यापारवत्व प्रसंग आत्मा निमित्त होने से उसमें व्यापार होना चाहिए व्यापार हो जाएगा क्योंकि व्यापार रहित तो होगा तो फिर व्यापार रहित तो होगा तो किस अन्य में उसका निमित्त कैसे बनेगा कुछ व्यापार करेगा तो कुछ करेगा व्यापार नहीं करे कैसे होगा तो व्यापारवत्व प्रसंग ऐसा हम शंका से कहते रात्रि हनिव आदित्य निमित्ते लोके नित्यावोष्ण प्रकाश अग्नि आदित्य और अन्यत्र भावा भावे और निमित्तत्वाद अनित्याभिव उपचर्यते रात्रि रात्रि और अहनि दिन रात्रि च हंस रात्रि हनि आदित्य निमित्ते सूर्य के कारण रात दिन होता है लोक में या नहीं सूर्य दिखता है तो दिन हो गया अदर्शन हो गया था रात हो गया दिन रात ऐसा होने के लिए हमको आदित्य में कुछ करना पड़ेगा नित्य औष्ण्य प्रकाशौ अग्नि आदित्योर औष्ण्य और प्रकाश अग्नि में है या आदित्य में है दोनों में स्वभावत है प्रकाश प्रकाशो अग्नि आदित्यो अन्यत्र प्रयोग होता है भावा और निमित्तत्वाद अन्यत्र है नहीं है उसके लिए निमित्त है उसने प्रकाश इसी प्रकार रात्रि और दिन में सूर्य दिखता है तो दिन नहीं दिखता तो रात्रि ये निमित्त हुआ अनित्यो एव उपचर्यते वो अनित्य जैसे अग्नि आदित्य में प्रकाश रात्रि में रहेगा या नहीं रहेगा हाँ हमको नहीं दिखता है तो हम कहते रात्रि सूर्य में प्रकाश का अभाव नहीं होता है रात्रि होने पर सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है दिन में प्रकाश उत्पन्न होता है ऐसा है सूर्य के प्रकाश की उत्पत्ति नाश नहीं अनित्य नहीं स्वाभाविक अनित्य है तो भी हाँ, वो अनित्य जैसे उपचार गौण प्रयोग होता है भावा भावाभावर जैसे कहीं अग्नि दहन करती है आदित्य प्रकाश है सूर्य प्रकाश करते हैं सुबह हो गया अभी सूर्य प्रकाश करते हैं रात्रि में प्रकाश नहीं करते थे आदित्य तो हमेशा प्रकाश रूप है हमको दिखने पर कहेंगे प्रकाश करता है नहीं तो प्रकाश नहीं करता कहेंगे अनित्य जैसे प्रयोग करते हैं नित्यो इव औष्ण्य प्रकाशौ नित्य है नित्यो उष्ण प्रकाश है अग्नि आदित्य में अन्यत्र सूर्य जल अग्नि आदि में घट आदि में तो घट में प्रकाश हुआ घट घट विषय तो प्रकाश हो गया नहीं तो नहीं प्रकाश हुआ घट है तो प्रकाश दिखेगा नहीं तो नहीं दिखेगा निमित्तत्वाद अनिमित अनित्वैव उपचय ग्रहण कर प्रयोग करते हैं टीका में यथा आदित्य सन्निधि असन्निधि मात्र निमित्त लोके रात्रि अनिभवत रात्रि दिन लोक में होता है किसके कारण सूर्य के सन्निधि हो तो दिन है असन्निधि हो तो रात्रि तो निमित्त क्या हुआ सन्निधि मात्र असन्निधि मात्र दिन हो के लिए निमित्त हो गया सूर्य की सन्निधि मात्र कोई व्यापार करना नहीं पड़ेगा रात्रि होने के लिए निमित्त असन्निधि मात्र मात्रम निमित्तम ययो दिन रात का निमित्त है नहीं आदित्य कंचन सापयति उत्थापयति वा आदित्य शाम को सबको सुला देते हैं अशुभ को जगा देते हैं कंचन न उत्थापयति न सापयति किसको ना तो सुलाते किसको जगाते हैं ये दिन रात का निमित्त कुछ नहीं या दिन रात के लिए कोई नियम लगाते ऐसा नहीं वो दिखता है तो दिन लोग कहेंगे नहीं दिखा दर्शन हो गया अस्त हो गई कहते हैं न तो निमित्तत्व न व्यापारवत्व अविनाभूतम व्यापारवत्व का व्याप्य यत्र त निमित्तत्व तत्र व्यापारवत्वम ऐसे कोई व्याप्ति नहीं है निमित्त हो तो व्यापार करना पड़ेगा सूर्य निमित्त है रात्रि दिन का किंतु उसमें व्यापार करके नहीं रात्रि दिन नहीं होता है चुंबक लौह आकर्षण करता है चुंबक के पास लौह चूना रखेंगे तो आकर्षण क्रिया हुई तो आकर्षण के लिए निमित्त हो गया चुंबक उसके लिए चुंबक को व्यापार करना पड़ता है क्या यत्र त्र निमित्तत्वं तत्र व्यापारवत्वं ये व्याप्ति बनेगी सूर्य निमित्त है दिन रात का किंतु व्यापारवत्व होकर के नहीं है केवल सन्निधि असन्निधि मात्र से इसलिए निमित्तत्व व्यापारवत्व अविनाभूतम व्याप्यम अविनाभूत है तो व्याप्यम नहीं है अविनाभूत व्याप्य होता है बिना भूतम बिना भवति जल के बिना अग्नि रह सकती है तो जल बिना भूतम वन्नी वन वन्नी के बिना धूम रह जाएगी रहेगा इसे धूम हो गया वन्नी का बिना भूतम होगा वन्नी के बिना भवति धूम भवति भूतम वन्नी के बिना धूम रहेगा तो धूम वन्नी बिना भूत होगा अविनाभूत होगा अविनाभूत मतलब बिना भूत नहीं ना अविनाभूत मतलब व्याप्यम वन्नी के बिना धूम नहीं रहता है इसे धूम हो गया वन्नी का व्याप्य जिसके बिना रह जाएगा धूम रह सकता है जल के बिना तो जल धूम का व्याप्य है धूम जल का व्याप्य बताओ उसमें व्याप्य नहीं जल के बिना धूम रह जाता है बिना भूत ऐसे व्याप्य नहीं वन्य के बिना धूम बिना भूत भवति धूम वन्य में बिना तो धूम वन्य के बिना भूत ने अविनाभूत अर्थ व्याप्य यहां अविनाभूत कहता व्याप्यम ननु आत्मनि बोध से नित्यते कथम कालावचदे व्यवहार प्राग अज्ञासिसं शास्त्रार्थं इदानीं च जानामि पुनर्ज्ञास्यामि आत्मा बोध रूप है आत्मा में जो बोध है ज्ञान है वो नित्य है अनित्य है सत्यम ज्ञानम आत्मा तो बोध है नित्य है बोध यदि नित्य है तो अभी जानता हूं पहले ज्ञान था आगे जानूंगा ये काल के साथ कैसे संबंध होगा वो तो काल व्यवहार वर्तमान इदानीं पश्यामि पहले या नहीं देखा था या पहले भी देखा था आगे देखूंगा ये सब कालावच्छिन्न होकर के व्यवहार कैसे होता है जो अनित्य वस्तु उसमें काल परिच्छिन्न होता है अनित्य वस्तु काल परिच्छिन्न है क्या अनित्य वस्तु काल परिच्छिन्न है ज्ञान आत्मा में जो ज्ञान है वो अनित्य है नित्य है नित्य ज्ञान में काल परिच्छिन्नत्व नहीं तो कालावच्छिन्न व्यवहार कैसे होता है यदि आत्मा ज्ञान रूपे नित्य ज्ञान है नित्य तो कथम कालावच्छेद व्यवहार काल परिच्छेद व्यवहार होता है प्राग अज्ञासुषम पहले ज्ञान था शास्त्रार्थम शास्त्र का अर्थ का ज्ञान पहले था इधानी जो जाना मैं अभी भी जानता हूँ पुनर्ज्ञास्या मैं आगे भी जानूंगा आगे पढ़ूंगा आगे जानूंगा ये कैसे व्यवहार होता है काल परिचिन्न होकर के ऐसा उनसे कहता तत्र दृष्टांतम नित्यौ औष्ण्य प्रकाशो औष्ण्य प्रकाश तो नित्य है अग्नि आदित्य में किंतु विषय होने पर उसमें प्रयोग करते हैं तद्वद विशेष कालावच्छिन्नत्वेन कालावच्छेद व्यवहार घट को सूर्य में प्रकाश हमेशा रहेगा सूर्य में हमेशा प्रकाश है तो दिन भर घट को सूर्य प्रकाश करेगा नहीं करेगा हैं सूर्य घट को दिन भर प्रकाश करेगा नहीं करेगा बोलो ठीक है सिर क्यों लाते हां नहीं बोलो घट नहीं हो तो घट को प्रकाश करने के लिए घट चाहिए या नहीं सूर्य में प्रकाश दिन भर है किंतु घट नहीं तो घट को प्रकाश करेगा घट लाए तो प्रकाश करेगा घट रखेंगे तो प्रकाश करेगा क्या घट को ले लिया तो तो घट को रखना हटा देना ये अनित्य है घट उत्पन्न हुआ तो प्रकाश कर लिया घट को तोड़ दिया तो घट को प्रकाश करेगा नहीं रहेगा टुकड़ा को प्रकाश करेगा घट तो नहीं रहा घट को तोड़ दिया तोड़ने के बाद घट को प्रकाश करेगा सूर्य हैं घट ही नहीं इसी प्रकार विषय होने पर प्रकाश करेगा तो नहीं नहीं करेगा देखो दिया है टीका में से कालावच्छिन्नत्वेन विषय घटपट आदि काल परिचिन्न है कालावश्यक व्यवहार काल परिच्छिन्न व्यवहार होता है स्वरूपेण नित्येपि बोधे न विरुद्धते बोध नित्य होने पर भी विषय काल परिच्छिन्न होने से काल परिचिन्न व्यवहार हो जाता है कोई विरुद्ध नहीं घट है तो घटाकर अंतकण परिणाम हुआ तो घटम जानामि घट ज्ञानम जातम घटम पश्यामि वृत्ति घटाकार वृत्ति उत्पन्न होने पर घट ज्ञान वृत्ति नष्ट तो ज्ञान स्वरूप तो ज्ञान तो नित्य है वृत्ति की उत्पत्ति नाश होने से ज्ञान की उत्पत्ति नाश से व्यवहार होता है आत्मनि बोधाबोधयो सामंजस्य किम सिद्धम अभी बोध और अबोध ऐसे इसमें जड़ में कौन चेतन में कौन सिद्ध हुआ बोध अबोध में जड़ में कौन रहेगा चेतन में कौन रहेगा दोनों चेतन में रहेंगे या दोनों जड़ में रहेंगे डर लगता है डर नहीं लगता है एक बोध और एक अबोध इसमें चेतन में कौन रहेगा और जड़ में कौन रहेगा दोनों मैं पता कौन रहेगा कोई नहीं रहेगा दोनों रहेंगे दोनों रहेंगे कोई नहीं रहेगा जड़ में बोध नहीं रहेगा अबोध हां बोध अबोध दोनों किस में सिद्ध हुआ चेतन में पूर्व जी कहता है ठीक है चेतन में तो क्या हो गया आत्मनि बोधा अबोधो सामंजस्य किम सिद्धम क्या सिद्ध हुआ बोध अबोध दोनों आत्मा में जड़ में नहीं तो क्या हुआ एवंच धक्षति अग्नि प्रकाशयति प्रकाशयति सविता इति तद्वत धक्षति अग्नि अग्नि धक्षति क्या था दह भस्मीकरण दह में ध कहां से आ गया एकाजो धक्षति धक्षति में क कहां से आ जाएगा क कसी ढ को क करेगा ना स को करेगा ढ को ढ है क्या हो ढ दह के हकार को ढ हो गया हो ढ से ढ होगा दादिर धातु घ नहीं होगा दह धातु दादे तार तर घ हो जाएगा ध में दादिर धातु घ घ होने के बाद खर्च से क हो जाएगा यहाँ होढ़ नहीं हुआ होढ़ तो प्राप्त था उसका अपवाद है दादेता तो घ किसको घ होगा ह को घ होने पर घ को क्या होगा खर्च से क सड़क से लगा नहीं लगेगा धक्षते अग्नि प्रकाशयति सविता सविता स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है हां लड़की का नाम रखते सविता सविता नाम रहते ना सवित्री शब्द है सवित्री का जैसे पितृ का पिता ज्ञात्री का ज्ञाता ऐसे सवित्री का सविता कर्त्री का बनता कर्ता कर्ता ज्ञाता ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है इसी प्रकार सविता भी पुल्लिंग है सवित्री शब्द है सविता सूर्य है तद्वत सविता बीस लड़की का नाम रखते हैं और चंद्र पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है शशि शशि इंदु इंदु पुलिंग स्त्रीलिंग है हां लड़की का नाम रख दे पुत्री का नाम रख दे शशि इंदु लड़का का नाम नहीं रखते ना शशि इंदु हिंदी में स्त्रीलिंग करके कहेंगे शशि इंदु शशि जी आकाश में जो शशि है इंदु है शशि दिखती है या दिखता है आकाश में शशि चांद कहते शशि नहीं कहते हैं चांद को चांद दिखता है शशि कहेंगे तो इन दिखेगा हाँ शशि इंदु ये भी पुल्लिंग है सविता सूर्य है ठीक है हमें एवं च सुख दुख बंध मोक्षादि अध्यारोप लोकस्य यही सुख दुख बंध मोक्षादि के आरोप करते सब लोग बोध आवद दोनों होने से चेतन में चेतन में सुख दुख बंध मोक्ष आदि का आरोप होता है सुखी हम दुख हम बद्ध मुक्त ये सब आरोप होता है लोक आरोप करता है अहंकार आदि संघात ये लोक हुआ ये सब आरोप करते हैं हम सुखी हम दुखी शुद्ध चेतन कहेगा कि हम सुखी हम दुखी जड़ कहेगा कौन कहता है अहंकार आदि संघात ये जो चिदाभास विशिष्ट अंतकण वही चेतन शब्द प्रसिद्ध है वही कहता हम सुखी हम दुखी कर्तृत्व भी उसमें है कहते कर्तृत्व तो किस में रहेगा जड़ में रहेगा चेतन में रहेगा जड़ करता होगा क्या घट करता नहीं तो शुद्ध चेतन करता होगा जड़ में कहीं कर्तृत्व तो नहीं दिखा गया शुद्ध चेतन में तो कर्तृत्व तो दिखा गया शुद्ध चेतन नहीं दिखा तो शुद्ध चेतन में कर्तृत्व तो कहां दिखेगा जहां दिखता है वो शुद्ध चेतन नहीं है जो दिखता है चेतन चिदाभास विष्ट अहंकार आदि संघात दिखता है उसको हम चेतन कहते हैं शुद्ध चेतन दीवाल में पत्थर में भी है उसको कहते हैं कर्ता भोक्ता चेतन जड़ देहादि संघात में चिदाभास होने से उसको चेतन शब्द से कहते वही कर्ता भोक्ता है चिदाभासम शुद्ध चेतन भी रहेगा अधिष्ठान चैतन्य और अंतकण है चिदाभास है सूक्ष्म शरीर ये सब को लेकर के चेतन व्यवहार किया जाता है तो उसमें मैं सुखी मैं दुखी में बद्ध मुक्त आदि व्यवहार होता है अधिष्ठान चैतन्य रहेगा अधिष्ठान चैतन्य के बिना नहीं वही अधिष्ठान चेतन में सब आरोपित है हे तो का धर्म सुख दुख किंतु आरोपित किस में चेतन में इसी प्रकार बंध मोक्ष भी आरोपित चेतन में आरोपित है चेतन में आरोप एवं च सुख दुख तदपेक्ष तत्वमसि आत्मानवेत इत्यादि आत्मा अवबोध उपदेशन श्रुतय केवलम अध्यारोप अपहार था तदपेक्ष जो बोध और अबोध दोनों चेतन में है इसको अपेक्षा करके उपदेश तत्वमसि तुम ब्रह्म हो इस उपदेश चेतन को उपदेश होता है अंतकण उपयते चेतन है तत्वमसि और ब्रह्मैव आसी तद आत्मानमेव अवेत अब अहम ब्रह्मास्मि आत्मा को स्वयं अपने को जान लिया है ब्रह्म ज्ञान अज्ञान आरोपित है ज्ञान भी आरोपित है बंध भी आरोप मोक्ष भी आरोप है आत्मा बबोध उपदेश आत्मा के ज्ञान का उपदेश करके श्रुति क्या करती है आत्मा को प्रकाश करने के लिए नहीं केवलम अध्यारोप अपहार था अध्यारोप को नि, की निवृत्ति करने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति होगी अहम अस्मि ब्रह्म अंतकण में परिणाम वृत्ति इसी को ही कहते ब्रह्म ज्ञान वो अज्ञान की निवृत्ति करती है अज्ञान अवस्था में शुद्ध चेतन रहेगा नहीं रहेगा अज्ञान निवृत्त होने पर शुद्ध चेतन रहेगा तो शुद्ध चेतन अवस्था में रहेगा नहीं आज जो अवस्था में रहेगा वही अज्ञानी था नहीं तो अज्ञानी दूसरा और मुक्त दूसरा होगा चैत्र अज्ञान है दुखी है औषध सेवन करेगा तो मैत्र स्वस्थ हो जाएगा ये होगा या चैत्र को रोग है तो मैत्र औषध खाता है इसी प्रकार जिसे में अज्ञान वही शास्त्र श्रवण करेगा उसमें ज्ञान होगा और मोक्ष काल में वही रहेगा दूसरा रहेगा हाँ जे बंदी में कोई है और मुक्त हो गया मतलब मर गया मर गया तो मुक्त होता है क्या मुक्त होता मतलब वही रह गया बंदी से छुटकारा हो तभी कहेंगे मुक्त हो गया इसी प्रकार जो बद्ध है वही मुक्त होना चाहिए मुक्ति अवस्था में रहेगा तो जो वही बद्ध था मुक्ति अवस्था में शुद्ध चेतन रहेगा या और दूसरा रहेगा तो शुद्ध चेतन ही बद्ध था शुद्ध चेतन मुक्त हुआ तो शुद्ध चेतन में मुक्ति वास्तव मुक्ति नहीं मुक्ति का आरोप बंध का आरोप बंध मुख्य का आरोप शुद्ध चेतन में ही है मुख्य काल में शुद्ध चेतन रहता है तो बद्ध कौन होगा शुद्ध चेतन और ज्ञान किसको होगा शुद्ध चेतन को शुद्ध चेतन ज्ञान होगा उपहित में तो होगा ज्ञान आरोपित उपाधि का धर्म उपहित में आरोप होता है ज्ञान भी आरोपित है अज्ञान भी आरोपित है शुद्ध चेतन में बंध वास्तव है क्या बंध का कारण अज्ञान वास्तव है अज्ञान का निवृत्त ज्ञान वास्तव है सब अवास्तव है आगंतुक विषय संबंधा तद उपरक्त रूपेण बोधस्य आगंतुकत्वेपि इदानी मया स्वात्मा बुध्यते नित्य बोधात्मन कथम बोध कर्तृत्व व्यपदेशित आशंक्य अभी शंका करते हैं आगंतुक विषय संबंधात अनित्य घट के संबंध से घट का प्रकाश हुआ आगंतुक विषय घटादि विषय के संबंध से घट ज्ञान अनित्य होगा विषय के संबंध से तद उपरतर विषय उपरत घटाकार वृत्ति बनित्य है घट अनित्य होने से घटाकार वृत्ति बनित्य तद उपरतर रूपेण बोध तो अनित्य हो गया आगंतुक हो गया आत्मज्ञान का विषय क्या होगा आत्मा नित्य अनित्य घट ज्ञान का विषय घट विषय अनित्य होने से घट ज्ञान की उत्पत्ति नाश ये अनित्य व्यवहार होगा आत्मज्ञान का विषय आत्मा नित्य है तो आत्मज्ञानी की उत्पत्ति नाश आत्मज्ञान के में अनित्य व्यवहार कैसे होगा आगंतुक विषय के संबंध से विषय उपरोक्त विषय विशिष्ट होकर के ज्ञान भी आगंतुक अनित्य तो हो गया किंतु आत्मा के लिए इदानी मया स्वात्मा बुद्धते अभी आत्मा का ज्ञान अभी हुआ अभी मैं समझता हूं पहले नहीं था अभी जानता हूं ये सब नित्य बोधात्मनि बोधात्मक तो नित्य बोध स्वरूप ज्ञान पे नित्य बोध रूप आत्मा है में बोध कर्तृत्व का व्यपदेश व्यवहार कैसे होता है बोध कर्तृत्व मतलब अनित्य बोध कर्तृत्व हुआ बोध का करता है तो बोध अनित्य अनित्य ज्ञान कैसे बोध में होगा इति आशंक्य आवरक अपनयस्य आगंतुकत्वेन भविष्यति द्याह नित्य प्रकाश होने पर भी बादल ढाक दिया सूर्य को अब बादल हट गया तो कहेंगे इधानिम सूर्य प्रकाशते अभी सूर्य प्रकाश ठंडी के समय कभी वर्षा होने बादल होता है ना बस सूर्य तो है ही नहीं और जब बादल हट गया हाँ आज सूर्य भगवान आए पहले नहीं आते थे क्या रोज आ के दिन भर रहते हैं बादल ढक हटा दिया तो सूर्य भगवान आ गए धूप आ गया ऐसे व्यवहार होता है आवरक अपने से आगंतुक न आवरक अज्ञान उसकी निवृत्ति ज्ञान से होती है आवरक अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से क्या कहेंगे ज्ञान उत्पन्न हो गया बोध कर्तृत्व का व्यपदेश होता है इदानी माया बुद्धते अभी मैं समझता हूं क्योंकि अभी अज्ञान आवरण की निवृत्ति हुई अनादि काल से अज्ञान आवरण है अभी निवृत्त हो जाने से क्या कहते इदानी मया स्वात्मा बुद्धते ऐसा आगंतुक व्यवहार हो जाता है क्योंकि आवरण के अज्ञान आवरण करने वाला उसका अपने निवृत्ति हो जाने से ज्ञान भी भविष्य भविष्यदित्या यथा सविता असौ प्रकाशयति आत्मानमिति तद्वत कहते सविता प्रकाश प्रकाशयति आत्मान सूर्य भगवान अपने को प्रकाश करते हैं असो सविता प्रकाशित आत्मान अंधकार था बादल था बादल ढक दिया अभी सूर्य दिखता नहीं अब बादल हट गया तो क्या कहेंगे देखो अभी सूर्य दिखते हैं सूर्य प्रकाश है थी जब बादल रहेगा उसमें सूर्य प्रकाश करता है सूर्य में प्रकाश रहेगा सामने बादल आएगा तो सूर्य में प्रकाश रहेगा क्या प्रकाश तो रहता है सामने बादल है तो सूर्य के अंधकार हो जाता है सूर्य तो में प्रकाश है अब बादल हट गया तो क्या कहते हैं इदानीम सूर्य प्रकाश यदि प्रकाश है सविता ऐसे व्यवहार करते यथासु प्रकाश है आत्मानम अपने को प्रकाश करता है पहले अपने को प्रकाश नहीं करता था बादल था तो हमको नहीं दिखता था बा, बादल हट गया कहे अभी सूर्य अपने को प्रकाश करते सूर्य भगवान अभी दर्शन देते हैं देखो दर्शन करो प्रकाश रहते आत्मान ऐसे व्यवहार होता है यस्माद अन्य उपाधिकम आत्मनि बोध कर्तृत्वम <clears throat> आत्मा में बोध कर्तृत्व अन्य उपाधिकम अंतकणादि उपाधि के कारण बोध कर्तृत्व बोध का करता आत्मा में स्वतः पुनर् विज्ञान अनपेक्षत्वमेव शुद्ध आत्मा विज्ञान निरपेक्ष है अंतकण अहंकारी उपाधि का आत्मा में अन्य उपाधिकम आत्मनि बोध कर्तृत्वम शुद्ध ज्ञान में बोध कर्तृत्व शुद्ध में उपाधि के कारण अहंकार अंतकण आदि उपाधि के कारण आत्मा में बोध कर्तृत्व और सत जो ज्ञान रूप है विज्ञान सापेक्ष है नहीं है स्वतः पुनर्विज्ञान अनपेक्षम तस्मात् विज्ञान अनपेक्षत्वाद विज्ञान अनपेक्ष हो गया कि आत्मा यही चल रहा था विज्ञान अनपेक्ष होने के कारण अविदितात अन्यतम सिद्धम इसको अविदित नहीं कहते अविदित कहेंगे तभी जो विज्ञान सापेक्ष हो शुद्ध स्वरूप ब्रह्म अविदित नहीं कहा जाएगा क्योंकि अविदित अपने से भिन्न होता है जो विज्ञान सापेक्ष उसको अविदित कहेंगे ब्रह्म स्वरूप शुद्ध चेतना विज्ञान सापेक्ष है या नहीं स्वरूपत विज्ञान सापेक्ष नहीं और विज्ञान सापेक्ष तो होता है किसके कारण उपाधि के कारण अंतकण उपहित होकर के विज्ञान सापेक्ष होता है स्वतः विज्ञान निरपेक्ष इसलिए अविदिता अन्यतम सिद्ध हुआ अविदित से अन्य टीका भाष्य में बोधाबोध कर्तृत्वं च नित्य बोधात्मनि तस्माद् अन्यत अविदितात बोध अबोध कर्तृत्वम नित्य बोधात्मा में बोध कर्तृत्वम अबोध कर्तृत्वम नित्य बोधात्मा में ही प्रयोग होता है बोध कर्तृत्वम वृत्ति आश्रयत्वम अबोध कर्तृत्वम अबोध आश्रयत्वम अज्ञान आश्रयत्वम दोनों ही वस्तुतः है ही नहीं नित्य बोधात्मा में प्रयोग होता है तस्मात् अन्यत अविदितार अविदित से अन्य है ब्रह्म ब्रह्म विदित है अविदित है दोनों से भिन्न अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि ओम आप्यायन्तु ममांगानि